जैसे जूली के बचपन में स्कूल में सब उसका मजाक बनाते थे वैसे ही मेरे साथ भी होता था स्कूल में सब लड़के मेरा मजाक बनाते थे मेरे ऊपर हंसते थे और पता है ये लोग मेरे ऊपर क्यों हंसते थे इसलिए ताकि उन्हें लड़कियों का अटेंशन मिल सके वो सोचते थे कि मेरा मजाक बनाकर वो लड़कियों के आगे खुद को बहुत स्मार्ट दिखाते थे और मेरे स्कूल में तो टीचर भी ऐसे ही थे उन्हें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था कोई मेरी तरफ मेरे हाल पे कभी ध्यान ही नहीं देता था सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे मेरी हालत भी बिल्कुल ग्यारह खून की जूली जैसी हो गई थी उस बेचारी को भी कोई नहीं समझता था मेहता की आंखें भर आई थी उसके आवाज से भी पता चल रहा था कि वो अंदर ही अंदर रो रहा है हालांकि फिर अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर बेहद गुस्से का भाव लाते हुए कहा एक्चुअली मैं भी अब उन लोगों से नफरत करने लगा था मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता था जितनी की जूली मेहता ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन कम से कम जूली का बाप तो था जो उसके दुख को समझ सकता था और जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन सब से बदला लिया जिसने उसकी बेटी को परेशान किया था लेकिन मेरा बाप तो शुरू से ही बीमार था वो हमेशा बेड पर पड़ा रहता था वो बेचारा तो खुद ही मेरे भरोसे पर जी रहा था फिर उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा उस टाइम मैं भी मजबूर था अपने बाप को अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था उस टाइम मेरा सहारा सिर्फ ये नॉवल था जूली और मैं हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हुए जिंदगी काट रहे थे लेकिन मैंने इतना तो सोच लिया था कि मैं खुद के साथ वो नहीं करूंगा जो जूली ने किया था मैं यूं इतनी आसानी से तो अपनी जान नहीं दे सकता मैं बिना अपना बदला लिए मर नहीं सकता फिर मैंने भी उन लोगों को वैसे ही मारने का प्लान बनाया और जैसे जूली के बाप ने सबको मारा था फिर मेहता ने अपना दांत पीसते हुए कहा वो लोग मुझे कचरा समझते थे मेरे साथ कचरे से भी बदतर व्यवहार करते थे फिर मेहता ने चेहरे पर बेहद अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा वो मेरी पैंट खींचते थे मेरे कपड़ों का मजाक बनाते थे मेरे बालों का मजाक बनाते थे मुझे मारते थे मुझसे अपने जूते तक साफ करवाते थे लेकिन मैं चुप रहता था कुछ नहीं बोलता था लेकिन मैं उन लोगों से बदला लिए बगैर भला उन्हें कैसे छोड़ सकता था मैं तरफ फिर अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी पंडित जी ने अपनी किताब में लोगों को मारने के जो तरीके लिखे हैं ना कमाल के हैं उन तरीकों से लोगों को मारने में मजा बहुत आया मतलब एकदम प्राउड फील हो रहा था मर्डर करके मैं तो कहता हूं कि किसी को भी खून करने से पहले पंडित जी की ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए <laughs> मेहता की ये बात सुनकर विक्रांत के बगल में बैठे पुलिस ऑफिसर्स उसकी तरफ हल्की हंसी छोड़ते हुए देखने लगे वो सब के सब काफी राहत की सांस ले रहे थे उन्हें ये बात भी अच्छे से समझ में आ रही थी वो लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो मेहता को अरेस्ट कर लिया गया है वरना अगर मेहता को पुलिस ना पकड़ पाती तो जयपुर पुलिस की काफी बदनामी होने वाली थी और साथ ही ना जाने कितने ऑफिसर्स को तो अपनी नौकरी गंवानी पड़ जाती इसके बाद अनुष्का ने मेहता के मर्डर केस के सीरीज के बारे में सवाल करना शुरू किया तुम यहाँ पर अपने स्कूल के टाइम की बात बता रहे हो लेकिन तुमने अभी तक जिन लोगों का मर्डर किया है वो सब तो तुम्हारे ऑफिस के लोग थे वहां से रिलेटेड थे तो क्या ऑफिस वाले भी तुम्हें परेशान कर रहे थे मेहता ने अपने सामने रखे गिलास का पानी उठाकर एक घूट में ही उसे खत्म करते हुए कहा सब साले ऐसे ही हैं मैडम ये पूरी दुनिया ही ऐसी है कमजोर लोगों का सब मजाक मनाते हैं कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है इन लोगों की वजह से मैंने अपने बाप को खोया था मैं बहुत गरीब था मैडम मेरे बाप की तबीयत शुरू से ही खराब रहती थी कमाई का कोई जरिया नहीं था इसी वजह से पढ़ाई भी जल्दी छोड़नी पड़ गई थी बहुत कम उम्र से घर का खर्चा चलाने के लिए इधर उधर की नौकरी करने लगा कभी होटल में काम किया तो कभी किसी कपड़े की दुकान पे मैं तो इस वक्त बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठा हुआ था वो बिना पलकें झपकाए टेबल की तरफ देखे जा रहा था आंखों से आंसू तो टपक रहे थे लेकिन फिर भी पलकें एक बार भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी फिर मैंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया वो भी किसी दूसरे का था बाद में किसी तरह से अपना खुद का ऑटो रिक्शा खरीदा फिर बाप की तबीयत और खराब होने लगी तो उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ने लगे तब रियल स्टेट में नौकरी करना शुरू किया दिन भर उधर नौकरी करता था और रात को ऑटो चलाता था लेकिन फिर भी मैं अपने बाप का ढंग से इलाज नहीं करा पाया उधर रियल स्टेट में कमीशन बेस पे नौकरी थी जितना क्लाइंट लाकर कंपनी को देता था उसी के हिसाब से कमीशन मिलता था फिर मेहता ने नैना की तरफ देखते हुए कहा मैं जानता हूँ कि मुझे किसी से ढंग से बात करना नहीं आता है मैं जल्दी किसी को अपनी बातों में बहका नहीं पाता इस वजह से मैं जल्दी क्लाइंट पकड़ नहीं पाता था और कंपनी का बॉस मुझे इसके लिए बहुत सुनाता था सबके सामने मुझे बेइज्जत करता था उसका भी नंबर लगा दिया था मैंने कंपनी का मैनेजर भी जाने वाला था तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया वरना मैं एक एक करके सबको मार डालता फिर मेहता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो सला केला सुअर बेचता था साले के घर में खाने का भी इंतजाम नहीं था फिर भी मेरे पास आकर बार बार फ्लैट दिखाने के लिए कहता था उसको कुछ नहीं खरीदना था फिर भी मुझे परेशान करता था बोलता था कि अगर मुझे फ्लैट नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारे बॉस से कंप्लेंट कर दूंगा फिर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी साले ने मुझे पूरे ऑफिस के सामने बेइज्जत किया था उसका भी हिसाब कर दिया मैंने फिर वो लड़की उसको मैंने इतने सारे फ्लैट दिखाए महीनों उसके पीछे पीछे भागता रहा तब जाकर उसने एक फ्लैट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैं उस टाइम बहुत खुश था मेरे बाप की तबीयत उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे लगा कि इस डील होने के पैसे मिलेंगे तो मैं बाप का इलाज अच्छे से करवा लूंगा लेकिन उस कमीनी ने अंतिम समय में मुझे धोखा दे दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद किसी और से जाकर प्रॉपर्टी खरीद लिया किसी और के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे लिए ये मामूली बात नहीं थी मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता था इसीलिए उसको भी मैंने फांसी के फंदे में लटका कर मार डाला मेहता अपने सभी मर्डर के बारे में बताते हुए काफी एक्साइटेड हुआ जा रहा था अगर इन लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी ना की होती तो मैंने अपने बाप का इलाज करवा लिया होता और आज मेरा बाप जिंदा होता मेहता की आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे लेकिन वो उन आंसुओं की परवाह किए बगैर लगातार अपने दिल के सभी राज इंटरोगेशन टीम के आगे रखे जा रहा था सब लोग बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुने जा रहे थे यहाँ तक कि इंटेरोगेशन रूम के बगल में बने पार्टीशन रूम में भी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स भी बड़े ध्यान से मेहता के एक एक लफ्ज पर अपना कान टिकाए बैठे थे सब लोग मेहता की बातें सुनकर काफी शॉक्ड भी नजर आ रहे थे किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेहता द्वारा मर्डर किए जाने के पीछे उसका ये मकसद हो सकता है तुम तुम आराम से बात करो आराम से अनुष्का ने मेहता को शांत कराते हुए कहा और फिर वो हर्ष की तरफ देखने लगी हर्ष ने तुरंत ही उंगली से बाहर की तरफ खड़े पुलिस वाले को इशारा करते हुए चाय लाने का ऑर्डर दिया हर्ष के इशारा करते ही चाय अंदर भेज दी गई हर्ष ने चाय का गिलास मेहता की तरफ बढ़ा दिया लेकिन मेहता इतना दुखी था कि उसने चाय पीने से भी मना कर दिया लेकिन अनुष्का ने फिर से चाय का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा लो पी लो तुम्हें बेटर फील होगा अनुष्का के कहने पर मेहता ने चाय का गिलास उठाकर एक घूट पी लिया फिर जब उसने चाय के गिलास को नीचे रख दिया तब अनुष्का ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा क्या तुम्हारे बाप की मौत की वजह से ही तुमने इन लोगों को मारने का प्लान बनाया था हाँ मेहता ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को स्वीकार कर लिया मैंने उसके मरने से पहले ही सारा प्लान बना लिया था लेकिन तब मैं पकड़ा जाता तो फिर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था इसलिए मैंने उनके मरने तक कुछ नहीं किया बस उनके मरने का इंतजार करता रहा लेकिन उनके जाने के बाद मुझे किसी की फिक्र नहीं थी